विभो साक्षी न मैं करता नहीं हूँ और भोगता भी नहीं हूँ परंतु केवल प्रकृति का साक्षी हूँ और समीपत्व के कारण देह आदि को सचेतनपन का आभास होता है और वह वैसी ही क्रिया करते हैं मैं तो स्थिर नित्य सदैव आनंद रूप शुद्ध ज्ञान में निर्मल आत्मा हूँ और सब प्राणियों में साक्षी रूप व्याप्त हो रहा हूँ इसमें संशय नहीं और गहनता में और गहराई में प्रवेश करना हो तो कुछ और निषेध भी समझ लेने जरूरी है कल हमने समझा शरीर नहीं हूं मैं इंद्रिया नहीं हूं मन नहीं हूं बुद्धि नहीं हूं चैतन्य हूं लेकिन उससे भी सूक्ष्म आवरण है और वे सूक्ष्म आवरण सिर्फ समीप होने के कारण निर्मित हो जाते हैं चैतन्य जो भी उसके समीप होता है उसे आपूरित कर देता है जैसे प्रकाश जो भी समीप होता है उसे प्रकाशित कर देता है दिया जलाया हमने जलते ही दिए के जो भी उस दिए के घेरे में पड़ जाता है सब प्रकाशित हो जाता है ऐसी ही चेतना जो हमारे भीतर है उसके जो भी निकट है वो सभी प्रकाशित हो जाता है उस प्रकाशित होने में ही कठिनाई शुरू होती है अगर दिए को भी होश आ जाए दिया नहीं था अंधेरा था तब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था फिर दिया जला अगर दिए में भी चेतना हो तो जो जो प्रकाशित हो रहा है दिए को भी भ्रांति होगी कि वो भी मैं ही हूं प्रकाश को ये भ्रांति हो जाएगी कि जो भी प्रकाशित है वो भी मैं ही हूं क्योंकि जब मैं नहीं होता तब ये कुछ भी तो नहीं होता है न दीवारें दिखाई पड़ती हैं कमरे की न फर्नीचर दिखाई पड़ता है कमरे का जब मैं नहीं होता हूँ तो कुछ भी नहीं होता है जब मैं होता हूँ तभी ये सब होता है स्वभावता सीधा तर्क है कि मेरे होने में ही इनका होना भी समाया हुआ है चैतन्य का भी अनुभव यही है अगर चैतन्य नहीं होता तो न शरीर होते हैं पांच न मन होती है न बुद्धि होता है न इंद्रियां होती हैं कुछ भी नहीं होता चैतन्य के आविर्भाव के साथ ही सब होता है चैतन्य अगर बेहोश हो जाए गहन निद्रा में खो जाए तो भी शरीर का पता नहीं चलता फिर फिर बुद्धि का कोई पता नहीं चलता इसलिए तो आपका ऑपरेशन करना होता है तो बीच में एक गहरी बेहोशी की परत चैतन्य के चारों तरफ खड़ी करनी पड़ती है फिर आपका हाथ कटता है तो पीड़ा नहीं होती फिर आपके पूरे शरीर को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो पता नहीं चलता है क्योंकि दिए के जिस प्रकाश में ये सब दिखाई पड़ता था वो दिए का प्रकाश आवृत है बेहोशी से चेतन जिस चीज को भी प्रकाशित करता है उस चीज से समीपत्व के कारण एकता अनुभव होती है निकटता के कारण लगता है ये भी मैं ही हूं यही हमारी सारी तादात्म की भूल है और फिर जिससे हम अपने को एक समझ लेते हैं उसी तरह का हम व्यवहार करने लगते हैं जैसे श्वास लेते हैं हम अगर चैतन्य भीतर से विदा हो जाए तो श्वास विलीन हो जाएगी श्वास की प्रक्रिया चलती है चैतन्य का प्रकाश श्वास की प्रक्रिया पर पड़ता है और चैतन्य को लगता है जब मैं होता हूँ तभी श्वास चलती है जब मैं नहीं होता हूँ श्वास नहीं चलती तो मैं ही श्वास हूँ मैं ही श्वास ले रहा हूँ लेकिन यह बात सच नहीं है आपने कभी भी श्वास नहीं ली है श्वास चल रही है आप केवल साक्षी निश्चित ही आपके होने पर ही श्वास के चलने का बोध होता है लेकिन श्वास का चलना बिल्कुल अलग है आपकी बेहोशी में भी चल सकती है और अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि आप मर भी गए हो तो भी हम यंत्रों से संयुक्त करके श्वास की प्रक्रिया को चलाए रख सकते हैं श्वास एक अलग यंत्र एक अलग व्यवस्था है आपको उसका पता भर चलता है आपने कभी श्वास ली है अगर आप श्वास लेते होते तो कभी के मर गए होते एक क्षण को भी चूक जाते कि टूट जाते सिलसिले से और आदमी सब तरह की भूलें करे चल जाए श्वास लेने की न लेने की भूल हो जाए तो नहीं चलेगा इसलिए श्वास आप लेते नहीं चलती है आप उसके कर्ता नहीं हैं सिर्फ साक्षी हैं खून आपके शरीर में बहता है आप बहाते नहीं हैं आप उसके कर्ता नहीं हैं हृदय धड़कता है आप उसके कर्ता नहीं हैं सिर्फ साक्षी हैं और अगर हृदय श्वास और धड़कन की बात समझ में आ जाए खून की गति की समझ में आ जाए तो बुद्धि भी चलती है आप चलाते नहीं है ये समझना बहुत कठिन नहीं होगा वो भी यंत्र मन भी यंत्र एक आदमी काम वासना से भर जाता है तो शायद सोचता है कि ये काम वासना मैं कर रहा हूं तो भूल करता है ये भी हो रहा है ये भी शरीर की ग्रंथियां हैं ग्रंथियों में फैलते हुए रस है तो जब ग्रंथियां प्रौढ़ हो जाती हैं चौदह वर्ष में तो काम वासना जगती है ग्रंथियां काट लें काम वासना विदा हो जाएगी आप करता नहीं है वासना के भी इसलिए तो वासना से छूटना बहुत मुश्किल हो जाता अगर करता होते तो कितनी आसान बात थी बंद कर देते अगर करता ही होते वासना के तो अर्चन क्या थी कह देते कि नहीं करते हैं अब बात समाप्त हो जाती लेकिन आप कहे चले जाते हैं कि अब वासना नहीं करेंगे और वासना उठती ही चली जाती वो पीछा ही नहीं छोड़ती क्यों अगर आप करता है तो इतनी कठिनाई क्या है कठिनाई एक है कि आप करता नहीं है और करता मान के आप दोहरी झंझट में पड़ते हैं पहले तो समझ लेते हैं कि मैं करता हूँ और इसी समझने के कारण फिर ये भी सोचते हैं कि मैं चाहूंगा तो नियंता भी हो जाऊंगा जब करता ही मैं हूं तो रोकना चाहूंगा तो रोक लूंगा वो रुकती भी नहीं ना आपके चलाए चलती है ना आपके रोके रुकती है तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि काम वासना से आप कभी मुक्त न हो सकेंगे मुक्त हो सकते हैं इसी क्षण बस कर्ता का भाव खो जाए आप सिर्फ साक्षी रह जाएं तो वासना से आप मुक्त हो जाते वासना अपनी तरफ पड़ी रह जाती यंत्र अलग पड़ा रह जाता है आप अलग हो जाते हैं बीच में फासला हो जाता एक बात और समझ लेनी जरूरी है कि आप कर्ता तो नहीं है इस यंत्र के लेकिन इस यंत्र के चलने के लिए आपकी मौजूदगी जरूरी है सिर्फ मौजूदगी जस्ट योर प्रेजेंस आप करता नहीं है सुबह सूरज निकला तो सूरज आके एक एक कली को खोलने की कोशिश नहीं करता है शायद उसे पता भी नहीं होगा कि उसने कितने फूल बना दिए पृथ्वी पर कितने पक्षी गीत गाने लगे इनका वो करता नहीं है यद्यपि उसके बिना भी ये नहीं होगा अगर सूरज कल सुबह न निकले तो पक्षी फिर गीत नहीं गा सकेंगे और फूल में फिर पखरिया नहीं खिलेंगी और कमल बंद ही रह जाएंगे लेकिन फिर भी सूरज करता नहीं है क्योंकि करने का कोई सवाल नहीं है आके उसकी एक एक करण एक एक कली को नहीं जगाती एक एक किरण एक एक किरण आकर एक एक पक्षी के गले में गीत नहीं बनती है कोई चेष्टा नहीं है सिर्फ मौजूदगी सिर्फ उसका मौजूद होना विज्ञान एक बात को स्वीकार करता है कैटलिटिक एजेंट को विज्ञान कहता है कि कुछ चीजें हैं जिनकी मौजूदगी मात्र परिणामकारी है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है लेकिन आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दें तो पानी नहीं बनेगा आप कितना ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन को घोल मेल करें पानी नहीं बनेगा क्योंकि कैटलिटिक एजेंट अभी मौजूद नहीं है सब बात मौजूद है क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी नहीं ये कैटलिटिक एजेंट की बात ठीक से समझ लेनी चाहिए क्योंकि ये साक्षी को समझने में बहुत गहरी गहरा उपयोगी बनेगी पानी को हम विभाजित करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त उसमें कुछ भी नहीं पाते बस यही दो चीजें तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो पानी क्यों नहीं बनता है क्योंकि पानी में दो के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है तो दो को मिलाने से पानी बन जाना चाहिए वो नहीं बनता है जब तक कि बिजली मौजूद ना हो इसलिए आकाश में जो बिजली कड़कती है वर्षा में उसके कड़कने की वजह से पानी निर्मित हो रहा है नहीं तो बादल भटकते रहे पानी निर्मित नहीं हो पाएगा लेकिन विज्ञान बड़ा परेशान रहा है कि इस बिजली का दान क्या है पानी में तो दान कुछ पता चलता नहीं बिजली का कुछ भी पानी में जाता नहीं इसलिए जब हम पानी को तोड़ते हैं तो बिजली मिलती नहीं तो बिजली ने क्या किया बिजली ने कुछ भी नहीं किया लेकिन उसकी मौजूदगी जरूर थी उसकी बिना मौजूदगी के घटना नहीं घटती तो बिजली कैटलिटिक एजेंट हो गई कैटेलिटिक एजेंट का मतलब हुआ कि मौजूदगी के बिना नहीं होगा और ये कुछ करता भी नहीं तो आपकी मौजूदगी के बिना श्वास नहीं चलेगी आपकी मौजूदगी के बिना हृदय की धड़कन नहीं होगी आपकी मौजूदगी के बिना बुद्धि काम नहीं करेगी फिर भी आप करता नहीं है इसी से कर्ता की भ्रांति होती है कि जब मेरे बिना नहीं होगा तो मैं करता हूं क्योंकि हमारे मन में दो ही धारणाएं हैं कि अगर मैं करता हूं तो होता है मेरे होने पर ही होता है मेरे न होने पर नहीं हो जाता है तो स्वाभाविक निष्कर्ष है कि मैं करता हूं हमें उस तीसरी दिशा का कोई पता नहीं है जबकि सिर्फ मौजूदगी सिर्फ उपस्थिति काम करती है ये उपस्थिति कर्तत्व बन जाती है यही हमारा बंधन है ये उपस्थिति सिर्फ उपस्थिति रह जाए तो यही हमारा साक्षित्व है हम इतना ही जान पाए कि हम साक्षी हैं हमारी मौजूदगी में होता है जरूर लेकिन हम करता नहीं तो हमारे और हमारे यंत्र के बीच एक फासला निर्मित हुआ और तब बड़ी गहरी बातें हैं इस मौजूदगी में काम वासना का केंद्र काम वासना की ग्रंथि कहे जाए कि मुझे प्रकट होना है और आप साक्षी बने रहें तो प्रकट नहीं हो सकेगी क्योंकि साक्षी बनते से ही काम वासना की ग्रंथि में आपकी गैर मौजूदगी हो गई साक्षी बनते ही आप अपने में सरक गए और ग्रंथि से दूर हो गए तो ग्रंथि के पास जो निकट चाहिए था निकटता चाहिए थी आपकी उपस्थिति चाहिए थी वो टूट गई तो ग्रंथि कंपित होती रहे और ग्रंथी पुकारती रहे और ग्रंथि के द्रव्य और रस कहते रहे कि वासना चाहिए वासना चाहिए लेकिन वो जो मौजूदगी थी आपकी इसलिए कई बार बड़ी अद्भुत घटनाएं घटती आप काम वासना से भरे हुए बैठे हैं चित्त वासना में डूबा हुआ है और अचानक किसी ने जोर से चिल्लाया कि मकान में आग लग गई वासना एकदम तुरोहित क्यों हो जाती एक क्षण में क्योंकि चित्त वहां से हटके मकान में आग लग गई उपस्थिति मन की वहां हो गई नहीं तो एक क्षण में आप अलग करके देखें वासना से चित्त को तब आपको पता चलेगा कि वो नहीं होता अलग नहीं होता अलग पर ये एक क्षण में मकान में आग लग गई ये खबर आते ही चाहे ना भी लगी हो आग किसी ने चिल्लाया कि मकान में आग लग गई और जैसे कि अचानक सारा यंत्र बंद हो गया वासना का भूल गए आप बात समाप्त हो गई क्या हुआ आपकी मौजूदगी हट गई इतना जरूरी काम आ गया इमरजेंसी का आपत्कालीन कि अब चित्त को और कहीं होना संभव नहीं रहा वो हट गया इस हट जाने में ही वासना तिरोहित हो गई वासना का यंत्र अपनी जगह है आप भी यंत्र के भीतर मौजूद है फिर फर्क क्या पड़ा फर्क इतना ही पड़ा कि आप वासना के निकट उपस्थित ना रहे आपकी उपस्थिति खो गई आप अनुपस्थित हो गए आपका ध्यान वहां से हट गया वासना से मुक्ति चेष्टा से नहीं मिलती निश्चेष्ट साक्षी भाव से मिलती है क्योंकि आप करता नहीं है तो ऋषि इस सूत्र को शुरू करता है मैं करता नहीं हूं मैं भोगता भी नहीं करता नहीं हूं ये भी समझ में आ जाए मैं भोगता भी नहीं हूं ये और भी दुस्तर क्योंकि करने में तो हम बाहर की तरफ कुछ करते हैं कर्म हमेशा बाहर की तरफ होता है भोग भीतर की तरफ होता है जब हम कुछ करते हैं तो हम अपने से बाहर जाते हैं और जब हम कुछ भोगते हैं तो अपने भीतर जाते हैं भोग भीतर की तरफ होता है इसलिए और भी निकट है इसलिए ये भी आदमी समझ ले कि मैं करता नहीं हूं ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं भोगता भी नहीं हूं लेकिन जो करता नहीं है वो भोगता भी नहीं हो सकता क्योंकि भोग भी गहन कर्म है भोगना भी कर्म है मैंने भोगा ऐसा कहना भी सूक्ष्म कर्म है मैंने किया ये तो कर्म है ही स्थूल मैंने भोगा ये भी सूक्ष्म कर्म है तो जब कर्ता का भाव बाहर होता है तो भीतर भोक्ता का भाव होता है और जितना बड़ा कर्ता का भाव होता है उतना ही भोक्ता की आकांक्षा होती है इसलिए जितना बड़ा कर्ता का भाव उतना ही जीवन में विषाद आता है क्योंकि उतनी ही भोग की वासना है और जितनी बड़ी वासना उतनी ही अतृप्ति छूट जाती है इसलिए बहुत करने वाले अक्सर बहुत दुखी पाए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है इतना किया और मिला क्या भोगा क्या सच तो यह है कि आदमी करता चला जाता है इस आशा में कि कल भोगेगा कल भोगेगा जीवन भर करता है और भोग का क्षण नहीं आ पाता ये हमारे भीतर एक दूसरा सामिप्य है जब आप भोजन कर रहे हैं तो ये भी हम मान लें कि भूख आप पैदा नहीं करते इसलिए उसके आप करता नहीं ये कठिन नहीं है बात भूख आप पैदा नहीं करते भूख लगती है और ना लगे तो कोई उपाय नहीं कि आप उसको पैदा कर लें तो साफ इतना तो है कि भूख लगती है हम उसे पैदा नहीं करते इसलिए भोजन कर रहे हैं क्योंकि भूख लगी है लेकिन स्वाद तो हमें आता है सुखद लगता है दुखद लगता है तिक्त लगता है कड़वा लगता है मीठा लगता है स्वाद तो हमें मिलता है तो मान लो कि भूख हमें नहीं लगती भूख हम नहीं लाते लगती है भूख हम पैदा करने वाले नहीं लेकिन स्वाद तो हम लेते ही है स्वाद और भी सूक्ष्म सच में ही क्या हम स्वाद लेते हैं या स्वाद भी हमारे यंत्र में ही घटित होता है और सिर्फ निकटता के कारण हमें लगता है कि मैं स्वाद ले रहा हूं स्वाद भी हमारे यंत्र में ही घटित होता है इसलिए जब आप बुखार में होते हैं तो स्वाद नहीं ले पाते आप तो वही है लेकिन यंत्र अभी शिथिल है और स्वाद लेने में सक्षम नहीं है यंत्र में ही स्वाद घटित होता है पावलफ ने रूस में बहुत से प्रयोग किए हैं उन प्रयोगों में इस संबंध में कुछ समझने जैसी बात है पावलफ कहता है कि स्वाद सुखद है या दुखद आप भोजन कर रहे हैं जब भी आप भोजन करते हैं तब एक दुर्गंध आपके चारों तरफ छोड़ दी जाती तो धीरे धीरे भोजन करना दुखद हो जाएगा या जब भी आप भोजन करते हैं तो आपकी कुर्सी से एक बिजली का शाख आपको दे दिया जाता तो 10-15 दिन में भोजन करते वक्त आप दुख की प्रतीक्षा करते रहेंगे कि अब आज साथ ना भी दिया जाए तो भी भोजन में स्वाद नहीं ले पाएंगे अनेक माताओं की तकलीफ यही होती है कि उनके बच्चे भोजन नहीं करते लाख चेष्टा करती हैं और भोजन नहीं करते और उनको ख्याल में नहीं होता कि बच्चा इसमें कसूर में नहीं असल में बच्चे के साथ जब भी उसने दूध मांगा है माँ ने जो व्यवहार किया है वो भोजन को ही अरुचिकर कर गया है एसोसिएशन हो गया जब भी बच्चे ने दूध मांगा है तभी माँ ने बहुत सदव्यवहार नहीं किया है तो वो जो दुर्व्यवहार है वो भोजन के साथ संयुक्त हो गया है पुरुषों के मन में इतना आकर्षण स्त्रियों के स्तनों के प्रति वस्तुतः माताओं का बच्चों के साथ स्तन को छुड़ाने की चेष्टा का परिणाम है हर माँ अपने बच्चे से स्तन को छुड़ाने की कोशिश में लगी कि जल्दी अलग हो जाओ वो जिंदगी भर अलग नहीं हो पाता बुढ़ापे तक भी वो स्तन को ही देखता रहता है ये जो पुरुषों का इतना आकर्षण है स्तन में ये आकार नहीं है वो बचपन जब स्तन सब कुछ था जीवन था इस बुरी तरह छीना झपटा गया है उससे क्या वो जिंदगी भर उस स्मृति के आसपास घूमता रहता है वो उसके मन को पकड़े ही रहता है और स्तन में एक बिल्कुल ही विमूलता पैदा हो जाती है बिल्कुल विमूलता पैदा हो जाती है स्त्री के शरीर में वही महत्वपूर्ण मालूम होने लगता है चित्रकार जिंदगी इसी में गंवाते रहते हैं लोग कहते हैं बहुत मेधावी हैं वो कुल इतना काम कर रहे हैं कि स्त्रियों के स्तन बनाते रहते हैं मूर्तिकार मूर्तियां करते रहते हैं कवि कविताएं लिखते रहते हैं ये सब बुद्धिमान लोग स्तन के आसपास इतनी कविता इतने इतना मूर्ति इतने चित्र विक्षिप्तता बताते हैं आदमी पागल है लेकिन घटना छोटी सी है जिससे सब शुरुआत हो जाती इसलिए जिन कौमों में माताएं स्तन पिलाने में बच्चों को आनंद लेती हैं उन कौमों में स्तन का कोई आकर्षण नहीं होता आदिवासी कौमें हैं प्रिमिटिव बिल्कुल अविकसित तो माँ आनंद लेती है और ये बड़े मजे की बात है कि दूध पीने में बच्चे को ही आनंद आता है ये आधी बात है दूध पिलाने में माँ को उससे ज्यादा आनंद आता है अगर संस्कार और सभ्यता और दूसरी बातें बाधा न डाले तो माँ हल्का अनुभव करती है रिलैक्स होती है बच्चा उसके हजारों तनावों को मुक्त करा देता है इसलिए जो कौमे आदिम है उन कौमों में स्तन में कोई रस नहीं है इसलिए हमें हैरानी होती कि आदिवासी स्त्रियां स्तन उघाड़े हुए क्यों चल रही हैरानी इस पर होनी चाहिए कि हम ढांक के क्यों चल रहे जो है उसको ढांकने में पागलपन है और बड़ा मजा ये है कि ढांकने की कोशिश दिखाने की चेष्टा का हिस्सा है क्योंकि अगर स्तन बिल्कुल उघड़े हो तो कोई भी नहीं देखेगा देखने जैसा कुछ भी नहीं है शरीर के जो भी हिस्से उघड़े उन्हें कोई नहीं देखता जिस हिस्से को दिखाना हो उसे खूब साथ संभाल के ढांकना चाहिए तो वो दिखाई पड़ता है दोहरा हिसाब है जिसे दिखाना हो उसे ढांको जिसे प्रकट करना हो उसे छिपाओ ये जो सारा का सारा रोग पैदा हो जाता है फिर इसके परिणाम होने शुरू हो जाते भोजन आप कर रहे हैं उसमें जो भी सुख दुख मालूम पड़ता है वो आसपास की व्यवस्था से निर्मित होता है और आपके यंत्र पर जो संघात पड़ जाते हैं आपका यंत्र वही कहे चला जाता है कि ये सुखद है ये दुखद है इसलिए हैरानी होती जो लोग मछली नहीं खाते उन्हें हैरानी होती कि मछली कोई कैसे खा सकता इतनी बदबू आती हुई मालूम होती लेकिन किसी को बड़ा स्वादिष्ट तो स्वाद क्या है एक कंडीशनिंग है एक आदत है और वह आदत आपके यंत्र में घटित होती है आप उसके पीछे निकट ही मौजूद हैं वो निकटता इतनी ज्यादा है कि आपसे जो भी प्रकाशित होता है वो आप समझ लेते हैं मैं ही हूं स्वाद भी आपके बिना अनुभव नहीं हो सकता इसलिए आप स्वाद हो जाते हैं भोक्ता हो जाते हैं वस्तुतः गहरे में देखें तो स्वाद के भी आप साक्षी ही हैं आपको पता चलता है कि मुझे मीठा स्वाद आ रहा कड़वा स्वाद आ रहा जिसे पता चलता है वो आप है मीठा का स्वाद आप नहीं है मीठे के स्वाद का जिससे बोध हो रहा है वो आप है क्योंकि तीन घटनाएं घट रही हैं मीठा खाया जा रहा है मीठे के स्वाद का अनुभव हो रहा है अनुभव का बोध हो रहा है तो जिसे ये अनुभव का बोध हो रहा है वो आप ही इसलिए ऋषि कहता है न मैं करता हूं न मैं भोगता हूं मैं तो केवल प्रकृति का साक्षी हूं देख रहा हूं और सब कुछ प्रकृति में हो रहा है पुरुष केवल देख रहा है सब कुछ प्रकृति में हो रहा है सब कुछ आसपास हो रहा है आप केवल देख रहे हैं लेकिन ये देखना खो जाता है या तो हम कर्ता बन जाते या हम भोक्ता बन जाते जैसे ही हम कर्ता या भोक्ता बनते हैं वैसी पीड़ा शुरू हो जाती सुना है मैंने एक आदमी के मकान में आग लग गई है और रो रहा है छाती पीट कर तभी एक पड़ोसी आके कहता है कि घबराते क्यों हो क्योंकि मुझे पक्की तरह पता है कल तुम्हारे लड़के ने तो ये मकान बेच भी दिया पैसे भी दे दिए गए आंसू खो गए रोना खो गया वो आदमी एकदम स्वस्थ हो गया क्या हुआ मकान अभी भी जल रहा है ये आदमी वही का वही है अभी कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ अगर हम खोजने जाए प्रकृति में तो रत्ती भर फर्क नहीं हुआ है प्रकृति ठीक वही है मकान की लपटें और बड़ी हो गई जोर से रोना चाहिए इसे लेकिन अब नहीं रो रहा है सन्निधि टूट गई निकटता मिट गई अपना नहीं बात खत्म हो गई लेकिन तभी मैंने सुना है कि लड़का भागा हुआ आया और उसने कहा कि क्या कर रहे हो खड़े हुए बाप भी देख रहा है लड़के ने कहा क्या कर रहे हो खड़े हो बातचीत चली थी मकान बिका नहीं फिर रोना वापस आ गया फिर छाती पीटी जाने लगी प्रकृति अब भी ठीक वैसी की वैसी पर ये बीच में क्या हुआ था एक घड़ी भर को क्षण भर को ये बीच में क्या हो गया था आपकी लपटें थी लेकिन आंसू क्यों खो गए थे निकटता टूट गई थी जैसी हमें लगता है मेरा निकट हो जाते जैसे लगता है मेरा नहीं निकटता टूट जाती निकटता ही सूत्र है सामिप्य ही सूत्र है हमारे सुख का दुख का करता होने का भोगता होने का निकटता ही सूत्र है सुना है मैंने एक सराय में एक आदमी रात मेहमान हुआ और सुबह चार बजे उठ के चला गया साल भर बाद वापिस लौटा उसी राय से सराय में रुका सराय का मालिक हैरान होकर खड़ा हो गया और कहा कि तुम अभी जिंदा हो आदमी ने कहा क्या मतलब क्या तुमने कोई अफवाह सुनी कि मैं मर गया उसने कहा कि अफवाह का सवाल ही नहीं जिस रात तुम यहाँ रुके थे उस रात जितने लोगों ने भोजन किया वो सब सुबह मर गए सिर्फ तुम चार बजे चले गए थे भोजन जहरीला हो गया उस आदमी ने कहा क्या कहा और बेहोश होकर गिर पड़ा ये वास्तविक तथ्य हुआ क्या अचानक वही घटना फिर घट गई जो उस मकान जलते हुए घटी उस समय बीच में फासला टूट गया इसमें वापस समीपता आ गई जहर इसने समीप अनुभव किया बेहोश हो गया और मर गया जहर से कम लोग मरते हैं जहर की समीपता से अधिक लोग मरते जहर इतना प्रभावी नहीं उससे भी समीपता चाहिए मैं ब्रह्मयोगी की बात कर रहा था जो 10 मिनट श्वास रोक लेते थे वो 30 मिनट तक किसी भी तरह का जहर भी अपने शरीर में रख लेते थे मुंह से ले जाते थे पेट में रख लेते थे और पेशाब से बाहर निकाल देते थे 30 मिनट तक वो रख सकते थे लेकिन रंगून में उनकी मौत हुई क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा नहीं रख सकते थे मगर 30 मिनट थोड़ा मामला नहीं जो भी रसायन विद है वो चकित थे और हैरान थे क्योंकि जो जहर जीप पर जाते ही मौत बन जाता है जीप पर जाते ही खबर देने को भी नहीं बचता आदमी जीप पर जहर रखा और मर जाता ये भी नहीं कह पाता कि मैं मर रहा हूं वो जहर भी ये आदमी तीस मिनट तक शरीर में रख लेता था तो हैरानी थी बात क्या थी राज क्या था इसकी भी मौत हो गई ब्रह्मयोगी की भी मौत इसी प्रयोग में रंगून में हुई रंगून विश्वविद्यालय में उन्होंने जहर लिया और जहां वो रुके थे उस तरफ चले लेकिन बीच में गाड़ी बिगड़ गई और पहुंचे तो पैंतीस मिनट हो गए थे तो बेहोश ही पहुंचे तीस मिनट से ज्यादा तो वो रख ही नहीं सकते थे वो पांच मिनट की जो देरी हो गई गाड़ी के बिगड़ जाने से वो मौत का कारण बनी वो तो उनका सीक्रेट था कि वो तीस मिनट में अपनी जगह पहुंच के उसको निकाल डालते थे उनसे जब भी पूछा जाता था कि तुम करते क्या हो तीस मिनट भी इस जहर को करते क्या हो तो वो कहते थे मैं अपनी समीपता नहीं बनने देता मैंने जहर लिया है इस भाव को मैं नहीं बनने देता बस तीस मिनट से ज्यादा मेरा बस नहीं तीस मिनट में मैं शिथिल होने लगता हूँ और ऐसा लगता है कि जहर लिया कहीं मर न जाऊं जैसे ही ये ख्याल आता है वैसे ही उपद्रव शुरू हो जाता है सामीप्य ये ख्याल तत्काल चेतना को निकट लाता है और चेतना करता और भोगता हो जाती चेतना दूर रखी जा सके तो कुछ भी हो सकता है हिप्नोटिज्म सम्मोहन के आपने अगर प्रयोग देखे हो तो आप चकित होंगे चकित होंगे बिल्कुल आपको अगर दो कुर्सियों पर लिटा दिया जाए पीठ के बल दूर दूर कुर्सियां रख दी जाए एक तरफ पैर रखा जाए एक तरफ का सिर रखा जाए तो क्या आप सीधे पड़े रह सकते हो एक कुर्सी पे आपके दोनों पैर टिका दिए दूर रखी एक कुर्सी पे आपकी गर्दन टिका दी ये बीच का हिस्सा क्या सीधा टिका रह सकता है ये कैसे टिकेगा आप फौरन नीचे गिर जाएंगे लेकिन आपको सम्मोहित कर दिया बेहोश और आपको कहा कि आप एक लकड़ी के तख्ते हो गए हो जो झुकी नहीं सकता और पैर आपकी कुर्सी पे टिका दिया और सिर आपका दूसरी कुर्सी पर आपके ऊपर आदमी चल जाए इधर से उधर तक आप झुकेंगे नहीं क्या हो गया शरीर वही है इसलिए शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है हड्डियां जहां से झुकती थी वहीं अब भी झुकती आपकी छाती पे एक आदमी बैठा और कमर नहीं झुक रही बात क्या हो गई सामिप्य हटा लिया गया जो झुकने का भाव था सदा का कि मैं झुक जाऊंगा अगर ऐसा हुआ तो गिर जाऊंगा वो तोड़ दिया गया वो भाव भर तोड़ दिया गया शरीर वही का वही है चेतना को वहां से हटा लिया गया और चेतना को नया भाव दे दिया गया कि तुम लकड़ी के सख्त तख्ते हो राममूर्ति अपनी छाती पर हाथी को खड़ा कर लेता था राज क्या था छाती इतनी मजबूत नहीं होती कि हाथी खड़ा हो जाए किसी की भी नहीं होती ना राममूर्ति की थी हो नहीं सकती वो कोई सवाल ही नहीं है आदमी की छाती आदमी की छाती कितनी ही मजबूत हो हाथी का पैर चकनाचूर कर देगा राममूर्ति के भी उस प्रयोग में सामिप्य को हटा लेने की कला के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है और आप भी हटा लें तो हाथी खड़ा हो जाए तो आप नहीं टूटेंगे टूटते ही इसीलिए कि टूटा ये ख्याल सघन हो जाता है हाथी नहीं तोड़ता है कि बहुत मजे की बात है लाओसे ने कहा है कि बैलगाड़ी में चार लोग बैठे हुए एक शराब पिए हुए तीन होश में बैलगाड़ी उलट जाती शराबी को चोट नहीं लगती तीनों के हाथ पैर टूट जाते शराबी का क्या कला है इसको क्या खूबी मिली हुई कि ये जनाब गिरे सबसे ज्यादा इनका टूटना चाहिए था शराब पिए बैठे नरक का रास्ता तय कर रहे इनकी हड्डी पसली नहीं टूटी ये मजे से सड़क के किनारे लेटे हुए और बाकी तीनों चीख चिल्ला रहे उनके हड्डी पसने सब टूट गए असल में इसको पता ही नहीं कि गाड़ी उलट रही है और हाथ पैर टूट जाएंगे ये होश चाहिए था तो सामिप्यता आती ये बेहोश है इन्हें पता नहीं कि गाड़ी उलट गई या चल रही है या क्या हुआ कि गाड़ी में है कि गाड़ी के बाहर है तो हड्डी के पास समीप नहीं आ पाते इसलिए हड्डी बच जाती इसलिए बच्चे इतने गिरते रहते शराबी आप देखते सड़क पर गिरे पड़े रहते हैं कोई खास नुकसान होता हुआ मालूम नहीं पड़ता सुबह वो फिर भले ताजे अपने रास्ते पे चले जा रहा आप जरा इतना गिर के देखो बिना पिए बस एक ही बार काफी होगा फिर बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा समीपता तत्काल चेतना समीप आ जाती कि मरा हड्डी टूटी उलट गए तो जो जो आप कह लेते हैं भीतर संक्षिप्त में वो हो जाता है अगर ये दूरी बनी रहे तो भेद पड़ता है तो भेद पड़ता है न मैं करता न मैं भोगता मैं केवल प्रकृति का साक्षी हूं और समीपत्व के कारण सचेतनपन का आभास होता है और वह वैसी ही क्रिया करने लगती है और वैसा ही मान लेती है कि ऐसा हूं ये हमारी मान्यता है हमारा संसार हमारी मान्यता है और जब तक हमारी मान्यता न टूटे तब तक हमारे मोक्ष का कोई उपाय नहीं मैं तो स्थिर नित्य सदैव आनंद रूप शुद्ध ज्ञान में निर्मल आत्मा हूँ और सब प्राणियों में साक्षी रूप व्याप्त हो रहा हूँ इसमें संशय नहीं जैसे ही कर्ता भोक्ता का भाव विदा हो साक्षी का अनुभव शुरू होता है जैसे ही साक्षी का अनुभव आप करना शुरू करें भोक्ता और कर्ता का भाव टूटना शुरू होता है कहा से शुरू करें ये आप पर निर्भर है कहीं से भी शुरू करें दूसरी घटना घटनी शुरू होती है करते में करता ना रहे भोगते में भोगता ना रहे तो साक्षी का जन्म होने लगता है साक्षी के जन्म की कोशिश करते रहे निरंतर होश पूर्वक रहने की कोशिश करें तो भोक्ता और कर्ता विलीन होने लगते हैं ये एक ही चीज के दो छोर है इसके दो उपाय एक उपाय है ध्यान और एक उपाय है तप तप है उपाय भोक्ता न रहने का कर्ता न रहने का और ध्यान है उपाय साक्षी होने का कहीं से भी शुरू करें घटना वही घट जाएगी ये समझ लेने जैसा है कि तपस्वी दुख में क्यों खड़ा होता है आखिर तपस्वी दुख को क्यों वर्ण कर लेता है क्या जरूरत है कि महावीर धूप में नग्न खड़े हों क्या जरूरत है कि सर्दी में उघाड़े बदन कपते रहे क्या जरूरत है कि नंगे पैर उबड़ खाबड़ रास्तों पर चले और क्या जरूरत है कि महीनों भोजन न ले या तो वो पागल है जो कि नहीं है तथ्य क्योंकि उन जैसा शांत और उन जैसा स्वस्थ और उन जैसा विवेकपूर्ण व्यक्ति खोजना मुश्किल है इसलिए पागल कहने का उपाय नहीं पश्चिम के मनस्विदों को कभी कभी जीसस के पागल होने पर शक होता है लेकिन महावीर को वो भी शक नहीं कर सकते क्योंकि जीसस के कुछ वक्तव्य ऐसे मालूम पड़ते हैं कि जरूर यह आदमी पागल हो गया होगा वक्तव्य कि मैं ईश्वर का बेटा हूं कि मेरे अतिरिक्त ईश्वर का कोई बेटा नहीं है कि मैं सारे सारे सृष्टि साम्राज्य का सम्राट हूं कि मोक्ष में प्रभु के सिंहासन के बगल में मेरा सिंहासन होगा कि जो मेरे साथ आएंगे वो बच जाएंगे और जो मुझसे भटकेंगे वो अनंत नरक में गिर जाएंगे और फिर अचानक फांसी पर लटकाया जाना इस आदमी का और इस आदमी का ऐसे ही मर जाना जैसे कोई भी साधारण आदमी मर जाता ये किस साम्राज्य का मालिक था और ये किसको बचाने की बात कर रहा था और कह रहा था कि सारे जगत को मैं बचा लूंगा और खुद को नहीं बचा पाया और अगर ये परमात्मा का बेटा ही था तो क्या परमात्मा ने कैसे आज्ञा दी कि इसको सूली लग जाए शायद भ्रांति में रहा होगा ऐसा पश्चिम के मनस्विद को शक पैदा होता है उस शक में सच्चाई नहीं है जीसस की भाषा को समझने में भूल है जीसस जिनसे बोल रहे थे वे थे अति ग्रामीण अशिक्षित लोग उनसे जो भाषा बोलनी पड़ती थी वो भाषा वेदांत की नहीं हो सकती थी वो भाषा संसार की ही हो सकती थी लेकिन महावीर पर तो ऐसा शक भी नहीं उठाया जा सकता क्योंकि जो भाषा बोल रहे हैं वो अति सुसंस्कृत है उसमें कहीं छिद्र भी नहीं खोजा जा सकता कि आदमी का दिमाग खराब रहा हो फिर ये महावीर अपने हाथ से दुख को क्यों खोजते फिरते इसका कारण है भोक्ता और कर्ता को तोड़ने का प्रयोग है ये असल में सुख में आप आसानी से भोगता होते हैं दुख में आसानी से नहीं हो पाते दुख भोगता होने नहीं देता पैर में कांटा गड़ रहा है उस समय आप साक्षी हो ही जाते हैं क्योंकि इसको कैसे भोगिएगा इसमें कोई रस तो आ नहीं रहा इसमें कोई स्वाद तो मिल नहीं रहा इससे आप दूरी चाहते ही हैं दुख से एक दूरी निर्मित हो जाती है अपने आप सामिप्य टूट जाता है क्योंकि दुख के कोई भी निकट नहीं रहना चाहता दुख से हमारी निकटता की आकांक्षा ही नहीं है दुख आ जाए ये दूसरी बात पर हम अपनी दूरी कायम रखना चाहते हैं लेकिन जब सुख आता है तब हम सड़क के बिल्कुल पास आ जाते तब हम दूरी नहीं रखना चाहते जब कोई गले में फूल मालाएं डाल दे तो ऐसा नहीं लगता कि हम अब साक्षी रहें इस क्षण में साक्षी रहने में कोई रस नहीं मालूम पड़ेगा इस समय तो ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल गला ही गला हो जाएं और फूल मालाएं ही फूल मालाएं लग जाएं। इस समय ऐसा भी नहीं होगा कि ये आदमी गलती कर रहा है इस समय ऐसा भी नहीं होगा कि ये किसी और के गले में डालने आया होगा मेरे गले में डाल दी इस समय ऐसा भी नहीं होता कि ये सिर्फ प्रकृति का खेल है इस समय मन कहता है प्रकृति का खेल नहीं ये तो बहुत पहले डाली जानी चाहिए थी इतनी देर तुमने की सिर्फ नासमझी के कारण अब तुम समझ पाए मुझे अब तक समझ नहीं पाए थे जो कभी का होना था वो अब हुआ है लेकिन कोई जूते की माला गले में डाल देना एक फासला तत्काल निर्मित हो जाता हम जानते हैं ये हमारे गले में नहीं डाली गई ये आदमी भूल में ये किसी और को डालने लाया होगा या पागल है या दुष्ट या शैतान है हम जिम्मेवार नहीं रहते उस वक्त वो आदमी जिम्मेवार होता है और जब कोई फूल माला डालता है तब हम जिम्मेवार होते हैं वो आदमी जिम्मेवार नहीं होता तो निकटता बनती है फूल की माला से सुख से एक निकटता की आकांक्षा है क्योंकि सुख हमने चाहा है जिसे हमने चाहा है उसके हम पास सरकते हैं दुख हमने कभी चाहा नहीं सदा चाहा है कि ना हो इसलिए मिल भी जाता है तो हम दूर हटते हैं तपश्चर्या का सूत्र बन जाता है यही कि दुख में खड़े हो जाओ ताकि धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे साफ हो जाए कि मैं भोगता नहीं मैं करता नहीं तो महावीर तीस दिन भूखे रहते हैं भूख में जानते हैं कि भूख है मैं साक्षी हूं फिर इकतीसवें दिन गांव में आके भोजन लेते हैं तब भोजन में जानते हैं कि न मैं भूख था न मैं भोजन हूँ वो भी मेरे बाहर घटना थी ये भी मेरे बाहर घटना है दुख में देखते रहते हैं कि दूरी है फिर उसी दूरी को सुख में भी निर्मित करते हैं तो तप एक सूत्र तप का अर्थ हुआ हम कर्ता और भोक्ता को तोड़ते हैं तो साक्षी का जन्म होना शुरू हो जाता है इधर कर्ता भोक्ता बिखरा तो इधर साक्षी जन्मने लगता है इसे कभी प्रयोग करके देखें जरूरी नहीं कि कोई दुख को खोजने जाए क्योंकि दुख आपको खोजते हुए काफी ऐसे ही चले आते हैं जब दुख आए तब थोड़े तप के सूत्र का प्रयोग करें आपको महावीर जैसा तप करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि महावीर जिस घर से आते थे वहां उन्हें काफी सुख मिल चुका था शायद उन्हें दुख का अनुभव ही नहीं था इसलिए दुख चुनना पड़ा आप जहां जी रहे हैं वहां दुख ही दुख है कहीं और दुख खोजने की जरूरत नहीं उस दुख में ही कर्ता और भोक्ता को तोड़ने का प्रयोग करें जब बीमारी आए तब बीमारी के भीतर दूर पड़े रह जाएं और बीमारी को देखते रहें ऐसा मत अनुभव करें कि मैं बीमार हूं ऐसा ही अनुभव करें कि मैं बीमारी का दृष्टा हूं और तब आप बहुत चकित हो जाएंगे ऐसा अनुभव करते ही बीमारी छीण होने लगती है ऐसा अनुभव करते ही आप और बीमारी के बीच अनंत फासला होने लगता है ऐसा अनुभव करते ही अचानक आप पाते हैं कि भीतर सब स्वस्थ है अचानक जैसे अचानक अंधेरे में कोई दिया जला दे और सब स्पष्ट हो जाए और वो स्पष्ट होने का जो क्षण है वो साक्षी का क्षण है दूसरा सूत्र है ध्यान महावीर का जोर तप पर है बुद्ध का जोर ध्यान पर है इसलिए बुद्ध और महावीर के अनुयायी एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ सके दोनों एक लेकिन अनुयायी बिल्कुल नहीं समझ सके क्योंकि जोर बिल्कुल अलग अलग है और विपरीत मालूम पड़ता है क्योंकि महावीर कहते हैं तप के बिना ध्यान कैसा और बुद्ध कहते हैं ध्यान के बिना तप ना समझी और दोनों ही ठीक कहते हैं और जगत का मजा यह है कि यहाँ विपरीत होने से ही दो बातें गलत हो जाती हैं ऐसा नहीं यहाँ विपरीत बातें भी एक साथ सही हो सकती हैं जगत इतना जटिल है और रहस्यपूर्ण है कि हम विपरीत बातें भी जरूरी रूप से दोनों ही गलत हो ऐसा नहीं सामान्य तर्क कहता है कि अगर दो बिल्कुल विपरीत बातें हैं तो या तो दोनों गलत होंगी ये हो सकता है या एक सही होगी और एक गलत होगी ये हो सकता है लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि दोनों ही सही हो लेकिन ये जीवन के रहस्य से अपरिचय के कारण है जीवन का रस कहता दोनों एक सांस सही हो सकते हैं महावीर और बुद्ध दोनों एक सांस सही है बराबर सही है यात्रा का पथ दिशा अलग अलग है महावीर शुरू करते हैं भोक्ता कर्ता को तोड़कर जो टूट के बच जाता है वो साक्षी है बुद्ध साक्षी को जगाना शुरू करते हैं साक्षी जगता है तो ये टूटने लगते हैं दोनों जिस दिन साक्षी पूरा जग जाता है कर्ता भोक्ता टूट जाते हैं इसलिए बुद्ध का प्रभाव सारी दुनिया में महावीर से बहुत ज्यादा पड़ा उसका कारण उसका कारण मौलिक रूप से यही है कि कोई कोई आदमी इतने सुख में नहीं है कि दुख को खोजने जाए सब आदमी इतने दुख में है कि और दुख को वर्ण करने की बात ही व्यर्थ मालूम पड़ती है ऐसे ही काफी दुख है बुद्ध की बात ज्यादा समझ में पड़ी क्योंकि बुद्ध की बात दुख बढ़ाने की कोशिश में नहीं है सीधे साक्षी का प्रयोग है जिससे दुख कम होगा तो महावीर की बात हो सकता है किसी दिन प्रभावी हो जाए जिस दिन दुनिया बहुत समृद्ध हो उस दिन बुद्ध की बात खो जाए संभव है आने वाली सदी में अमेरिका में महावीर की बात का पुनर्उद्घोष हो जाए इतनी समृद्धि हो जाए कि दुख में भी रस आने लगे इतना सुख हो जाए कि दुख में भी परिवर्तन मालूम पड़े कि चलो अभी दो विदेशी सन्यासियां यहां वृक्षों के नीचे सो रही हैं तो आज मुझे सुबह आकर उन्होंने कहा कि हम बड़े परेशान हैं कि सभी भारतीय इससे बहुत चिंतित हैं और जो भी मिलता है वो कहता है ऐसा मत करो ये क्या करो और हमें बहुत आनंद आ रहा है तो मैंने उनको कहा तुम्हें पता नहीं भारतीय को आनंद अभी नहीं आ सकता वृक्ष के नीचे हम वृक्ष के नीचे वैसे ही पड़े तुम्हें आ सकता है क्योंकि वृक्ष पे तो तुम्हारे फासले इतने हो गए हैं कि वृक्ष के नीचे होना एक अभूतपूर्व घटना है में से किसी भी भांति घटना घटित हो साक्षी शेष रह जाए तो ये जो साक्षी है ये फिर हमारे भीतर भला हो हमारा नहीं ये फिर सभी में व्याप्त है साक्षी का अनुभव करते ही अहंकार खो जाता है क्योंकि अहंकार कर्ता और भोक्ता का जोड़ है मैंने किया मैंने भोगा मैंने पाया इससे ही मैं निर्मित है मैंने किया नहीं मैंने भोगा नहीं मैंने पाया नहीं तो मैं कहा हूं फिर वो जोर खो जाता है तो साक्षी मेरा नहीं होता इसे ठीक से समझ ले साक्षी मेरा नहीं होता साक्षी होता हूं मैं उसका जिसे मैं मेरा कहता रहा हूं साक्षी होते ही मैं विलीन हो जाता है तो साक्षी हमारे भीतर फैला हुआ सागर है वो मेरे भीतर भी है आपके भीतर भी है सबके भीतर है कहीं सोया है कहीं जगा है कहीं करवट ले रहा है कहीं पूर्ण होश में है कहीं सपने देख रहा है कहीं निद्रा में दबा है लेकिन वो साक्षी एक ही है वो वृक्ष के भीतर भी वही है पत्थर के भीतर भी वही है बहुत गहन निद्रा में प्रगाढ़ निद्रा में पशु के भीतर भी वही है थोड़ा सा हलन चलन में हमारे भीतर भी वही है कभी कभी क्षण भर को जागा हुआ बुद्ध के भीतर भी वही है और क्राइस्ट के भीतर भी वही है पूरी तरह जागा हुआ ये मात्राओं के भेद है लेकिन जिसने पूरी तरह उसे जागा हुआ जाना तत्ण वो पाता है कि वो सागर है साक्षी एक सागर है जो हम सबको घेरे हुए है हम सब उसमें है और वो हम में है लेकिन वो एक है वो सर्वव्यापक है ऋषि कहता है इसमें संशय नहीं इसे जानकर कहता हूं इसे अनुभव करके कहता हूं ऐसा मैंने पाया है बहुत बार ऐसा लगता है कि ऋषियों के वक्तव्य अत्यंत अहंकार की घोषणाएं जो नहीं जानते उन्हें लगेगा ही जो अहंकार की भाषा के अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं समझते उन्हें लगेगा ही ये कहना कि इसमें कोई भी संशय नहीं है क्या दावेदारी नहीं है क्या कृष्णमूर्ति को अगर ये वचन हम दे तो कृष्णमूर्ति को नहीं लगेगा कि ये अथॉरिटेटिव क्या ये आप तो वचन बनाने की चेष्टा नहीं क्योंकि कृष्ण मूर्ति पसंद नहीं करेंगे ऐसा कहना कि जो मैं कहता हूं इसमें कोई भी संशय नहीं क्योंकि वे कहते हैं कि ऐसा कहने का मतलब है कि मैं आप पर दबाव डाल रहा हूं कि मुझे मानो शायद उनकी बात भी थोड़ी ठीक है क्योंकि ऐसे लोग हैं जो इसीलिए घोषणा करते हैं अधिकारपूर्ण वक्तव्य की ताकि वो मान लिया जाए लेकिन ऐसे ही लोग हैं ऐसा मान लेना भी गलत है तो इन ऋषियों जैसे लोग भी हैं जो किसी पर दावेदारी नहीं कर रहे हैं जो केवल एक तथ्य की सूचना दे रहे हैं एक विनम्र सूचना है ये कि इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है और अगर नहीं है संशय तो क्या ये सूचना करनी गलत है या कि सिर्फ इस डर से ये सूचना अधिकार पूर्वक न मालूम पड़े ऐसा कहना उचित होगा कि मुझे संशय है या ऐसा कहना उचित होगा कि मुझे पता नहीं संशय है या नहीं या ऐसा कहना उचित होगा कि इस संबंध में मैं कुछ भी ना कहूंगा कि मुझे संशय है या नहीं सिर्फ इस डर से कि किसी के लिए ये अधिकार वचन न बन जाए लेकिन इस डर से भी कहा फर्क पड़ता है कृष्णमूर्ति जीवन भर कहते रहे कि मैं किसी का गुरु नहीं हूँ और मेरे वचन को आप तो वचन न समझा जाए और मैं जो कहता हूँ उसको मान लेने की कोई जरूरत नहीं है मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ लेकिन बड़े मजे की बात है सैकड़ों लोग उनको अथॉरिटी मानते हैं और अधिकार पूर्ण मानते हैं और मजा तो और भी गहरा तब हो जाता है और मजाक भी इसीलिए अधिकारी मानते हैं कि जो आदमी अधिकार का इंकार कर रहा है वो जरूर अधिकारी है इसीलिए गुरु के योग्य मानते हैं क्योंकि आदमी कहता है कि मैं गुरु नहीं अब एक बड़ा खेल है आदमी के मन का जब कोई आपसे कहता है कि मैं गुरु नहीं हूं तो आपके अहंकार को तृप्ति मिलती है कि चलो इस आदमी से दोस्ती बन सकती है इसके पैर छूने की जरूरत नहीं इससे गले मिला जा सकता है इससे दोस्ती बांधी जा सकती है ये ऊपर नहीं है हमसे कोई सच है ये बात कि कोई आदमी ऊपर होने की कोशिश करे ये अहंकार है लेकिन कोई आदमी इसकी घोषणा करे कि मैं ऊपर नहीं हूं इसलिए आपको अच्छा लगे ये भी अहंकार है दूसरे बाजू से आपकी तरफ से एक आदमी कहता है मेरे पैर छुओ तो हमें लगता है ये अहंकारी है और एक आदमी कहता है हमारे पैर मत छूना क्योंकि मेरे पैरों में क्या खूबी तब आपको पता नहीं लगता कि आपको जो रस मिल रहा है वो आपका अहंकार है और ये आदमी अगर आपके पैर भी छू दे तब तो कहना ही क्या एक मित्र मेरे पास आए थे उन्होंने कहा कि बस मुझे कृष्ण मूर्ति की ही प्रीति कर लगे वही आदमी मालूम होते हैं कि ज्ञानी मैंने कहा क्या कारण है उन्होंने कहा जब मैं उनके पास मिलने गया तो वे मेरे पास तरक आए और मेरा पैर थपथपाने लगे उन्होंने किसी प्रेम के क्षण में थपथपाया होगा लेकिन उन्हें पता नहीं पैर उन्होंने थपथपाया होगा इसका अहंकार थपथपा गया है ये कह रहा ये आदमी जसता है आदमी बड़ी उलझी पहेली है तो ये ऋषि जब कहता है इसमें कोई संशय नहीं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि ये कहता है कि मैं जो कहता हूँ उसे मानो ना इसका इतना ही अर्थ है कि मैं जो कहता हूँ वो कहता ही नहीं हूँ जानकर कहता हूँ और इसे कहने में कहीं भी कोई बुराई नहीं है ये अपने असंशय की घोषणा करता है और ये घोषणा अगर ऐसा है तो बुराई क्या है अगर इसे ज्ञात है तो कहना ही चाहिए सत्य को निवेदन करना ही विनम्रता है बड़े मजे की बात है हम कहते फिरते हैं खासकर इस पिछले सौ वर्षों में एक नासमझी की बात गहन हो गई और लोगों को बहुत प्रभावकारी हुई क्योंकि हम कहते हैं सभी लोग समान हैं कोई नीचा नहीं कोई ऊंचा नहीं इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने को ऊंचा मानना बंद कर देते इसका केवल इतना मतलब हम किसी को ऊंचा मानना बंद कर देते जब हम कहते हैं कोई नीचा नहीं कोई ऊंचा नहीं तो उसका यह मतलब नहीं है कि अब हम किसी को नीचा नहीं मानेंगे उसका कुल मतलब इतना है कि अब हम किसी को ऊंचा नहीं मानेंगे और जब हम कहते हैं सब समान हैं बहुत गहरे अर्थों में तो ठीक है लेकिन उस गहराई का तो हमें कोई पता नहीं जहां ये बात ठीक है वहां हम गए नहीं और जहां हम हैं वहां ये बात बिल्कुल गलत है हम समान बिल्कुल नहीं हम बिल्कुल असमान हैं जहां ये बात ठीक है वहां हम गए नहीं और जहां ये बात बिल्कुल गलत है जहां हम हैं वहां ये बात बिल्कुल गलत है और वहां हम इसको मान लेते हैं और दूसरी उपद्रव की स्थिति पैदा होती है कि जो व्यक्ति इसको मान लेगा हम समान हैं वो कभी उस जगह नहीं पहुंच पाएगा जहां ये समानता संभव है जो व्यक्ति असमान मानकर चलेगा वो किसी दिन वहां पहुंच जाएगा जहां समानता संभव है क्योंकि असमान मानकर जो चलता है वो कुछ करेगा कोई यात्रा कोई निखार कोई संस्कार कोई परिष्कृति कोई साधना लेकिन जिसने माना कि बुद्ध और मैं समान हूं इससे बुद्ध को कोई नुकसान नहीं होता है अगर बुद्ध को नुकसान होता होता तो कोई हर्जा भी नहीं था इससे नुकसान मानने वाले को हो जाता है लेकिन अगर बुद्ध उससे ये कहें कि नहीं तू गलती में है तो लगेगा ये आदमी अहंकारी है लगेगा याद में अहंकारी अपने ही मुंह से कह रहा है कि तू समान नहीं तो बुद्ध क्या करे या तो कहें कि नहीं बिल्कुल समान समान ही का मुझसे भी ऊंचा है तो हमारे अहंकार को तो तृप्ति मिलती है लेकिन हमारे परिष्कार की और परिवर्तन की यात्रा नहीं हो पाती और या बुद्ध सहजता से कहें कि नहीं समान नहीं है तो हमारे अहंकार को बड़ी पीड़ा पहुंचती बुद्ध या महावीर या कृष्ण और क्राइस्ट ने समानता की घोषणा नहीं की जहां हम हैं वहां निश्चित ही वे जानते हैं कि हम समान हैं किसी बिंदु पर किसी केंद्र पर लेकिन वो हमारा अंतिम पड़ाव है जहां हमें वहां हम समान नहीं यात्रा के पथ पर हमें बड़े फासले हैं मंजिल पर हमें कोई फासले नहीं इसलिए कृष्ण मूर्ति की बात लोगों को प्रीतिकर लगती है लेकिन खतरनाक है क्योंकि कृष्ण मूर्ति यात्रा के पथ पर कहते हैं कि हम सब समान हैं कोई गुरु नहीं कोई शिष्य नहीं कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं ये बात सच है मंजिल पर यात्रा पथ में ये बात बिल्कुल ही सच नहीं है और यात्रा पथ में जिसने इसमें भरोसा किया वो मंजिल पर कभी भी नहीं पहुंच पाएगा जब ऋषि कहता है इसमें संशय नहीं तो सिर्फ आत्मनिवेदन है वो ये कहता है मैंने सोच सोच कर ऐसा नहीं कहा है ऐसा जान जान कर कह रहा हूं और भी एक अर्थ में ये बात उपयोगी है क्योंकि हम जी रहे हैं अनास्था में हम जीते हैं संशय में जैसा मैंने आपसे कहा कि नया पक्षी है अंडे से निकला है पर तोलता है बैठकर अपने घोंसले के बाहर हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि कभी उड़ा नहीं पता नहीं कि पंख उड़ने के काम भी आ सकते हैं ये भी भरोसा नहीं आता कि ये पंख छोटे छोटे और इतना बड़ा आकाश विराट और ये पंख इस आकाश में उड़ने के काम पड़ सकते हैं और भरोसा आए भी कैसे क्योंकि जो अज्ञात है उसका भरोसा कैसे हो जो अपरिचित है जाना नहीं जिस मार्ग पर गए नहीं जिस गगन में उड़े नहीं उड़ने का विश्वास कैसे जगे लेकिन कोई पक्षी उड़ रहा है तब भी ये भरोसा नहीं आता कि ये उड़ रहा है इसलिए मैं उड़ सकूंगा क्योंकि जरूरी नहीं कि जो दूसरा कर रहा हो वो मैं कर सकूं लेकिन अगर वो पक्षी कह सके इस पक्षी से कि इसी दशा से मैं भी गुजरा हूं एक दिन ऐसे ही घोंसले के बाहर बैठकर मैं भी चिंता तुर था मुझे भी भरोसा नहीं आता था अपने पंखों पर आकाश में जा सकूंगा क्योंकि अनुभव नहीं था लेकिन अब मैं तुझसे अनुभव से कहता हूँ इसमें जरा भी संशय नहीं है तेरे छोटे छोटे पंख लेकिन ये आकाश छोटा है तू उड़ सकता है तेरे पंख काफी बड़े ये पूरा आकाश भी छोटा है तू उड़ सकता है इसमें जरा भी संशय नहीं है मैं तुझे अनुभव से कहता हूँ और अनुभव का मतलब होता है जिसमें दोनों स्थितियां जानी हो अन्यथा अनुभव नहीं होता जिसने पहली स्थिति जानी हो जिसमें ये पक्षी आज पर फड़फड़ाता है लेकिन साहस नहीं जुटा पाता ये भी जिसने जाना हो और दूसरा आकाश में उड़ने का अनुभव भी जिसने जाना हो वो इससे कह सकता है भय न कर छलांग लगा इसमें जरा भी संशय नहीं है ये घोषणा सहयोगी है इस घोषणा का ये अर्थ नहीं है जैसा कि कृष्णमूर्ति अनिवार्यता ले लेते हैं वो अर्थ भी होता है अनिवार्य नहीं है इसका यह अर्थ नहीं है कि वो पक्षी अधिकार पैदा कर रहा है वो कह रहा है कि मैं कहता हूं इसलिए मान ले ये भी इसका अर्थ नहीं है कि वो पक्षी ये कह रहा है कि तू अनुयायी बन मेरा मैं तेरा गुरु हूं नहीं ये कुछ भी नहीं है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है वो पक्षी सिर्फ इतना ही कह रहा है कि देख मुझे और मैं जो कह रहा हूँ वो ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ जान कर कह रहा हूं और अगर तू मुझे देख पाए और जान पाए तो शायद ये भरोसा संक्रामक हो जाए और तेरा आत्मविश्वास पैदा हो गुरु उपद्रव हो जाता है जब वो अपने में विश्वास पैदा करवाता है गुरु सहयोगी हो जाता है जब वो दूसरे में स्वयं का विश्वास जगाता है दोनों ही स्थिति में असंशय होने की घोषणा आवश्यक है how this bondage happens We never feel that we are in the bodies, but feel that we are the bodies. The witnessing self is never felt. We always feel some identity. We always feel some identification. And the witnessing consciousness is the reality. So why this happens and how this happens, you are in pain. Really, what is happening inside? Analyze the whole phenomena. The pain is there, and there is this consciousness that the pain is there. These are the two points. The pain is there and there is this consciousness that the pain is there. But there is no gap. And somehow I am in pain. This feeling happens. I am in pain. And not only this, sooner or later, I am the pain. begins, the happens, starts to be the feeling. I am pain. I am in pain. I am aware of pain. These are three different, very different states. The Rishi says, I am aware of the pain this much can be allowed because then you transcend pain. The awareness transcends. You are different from it. And there is a deep separation. Really, there has been never any relation. The relation begins to appear only because of the nearness because of the intimate nearness of your consciousness and all that happens around. The consciousness is so near when you are in pain, it is just there, by the side, very near. It has to be. Otherwise the pain cannot be avoided, the pain cannot be cured. It has to be just near to feel it, to know it to be aware about it. But because of this nearness, you become identified and one. This is a safety measure again. This is a security measure. That is, that's the natural security. When there is pain, you must be near. When there is pain, your consciousness must go in a rush towards the pain to feel it, to avoid it. There is, you are on the street, and suddenly you feel a eh, snake there. Then your whole consciousness just becomes a jump. No movement can be lost, not even in thinking what to do. there is no gap between being aware and the action. You must be very near. Only then this can happen. When your body is suffering pain, disease, illness, you must be near. Otherwise, life cannot survive. If you are far off and the pain is not felt, then you will die. The pain must be felt immediately. There should be no gap. The message must be received immediately and your consciousness must go to the spot to do something. That's why nearness is a necessity. But because of this necessity, the other phenomena happens. So near, you become one. So near, you begin to feel that this is me. This pain, this pleasure, because of nearness there is identification you become anger you become love you become pain you become happiness the rishi says there are two ways to disassociate yourself from these false identities you are not what you have been thinking, feeling, imagining, projecting. What you are is simply the fact of being aware. Whatsoever happens, you remain just the awareness. You are awareness. That identity cannot be broken. that identity cannot be negated. All else can be negated and thrown. Awareness remains the ultimate substratum, the ultimate base. You cannot deny it. You cannot negate it. You cannot disassociate yourself from it. So this is the process that which cannot be thrown, that which cannot be made separate from you are you. That which can be separated, you are not. The pain is there. A moment later, it may not be there, but you will be. The happiness has come and it will go it has been and it will not be, but you will be. The body is young, then the body becomes old. All else comes and goes. Guests come and go, but the host remains the same. So the Zen mystics say do not be lost in the crowd of the guests remember your hostness that hostness is awareness that hostness is the witness in consciousness what is the basic element that remains always the same in you only be be that and disidentify yourself from all that comes and goes. But we become identified with the guests. Really, the host is so much occupied with the guests he forgets. Mulla Nasruddin has given a party to some friends and to some strangers. The party is very much boring and the half night is just lost and it goes on. So one stranger, not knowing that the mullah is the host, says to him, I have not seen such a party, such nonsense. And it seems never ending. And I'm so bored that I would like to leave. Mullah says, you have said what I was going to say to you. <laughs> I have myself not seen such a boring and nonsense party before. But I was not so courageous as you are. I was also thinking to leave it and just run away. So they both ran. Then in the street, Mullah comes to remember and says, something has gone wrong because now I remember I am the host. So please excuse me, I have to go back. This is happening to us all. The host is lost. The host is forgotten every moment. The host is your witnessing self pain comes and pleasure follows and there is happiness and there is misery and each moment whatsoever comes there you are identified with it you become the guest remember the host and when the guest is there remember the host and there are so many types of guests pleasurable painful guess you would like guess you will not like to be your guests. guess you would like to live with guess you would like to avoid but all guests remember the host constantly remember the host be centered in the host. Remain in your hostness. Then there is a separation. Then there is a gap, an interval. The bridge is broken. The moment this bridge is broken, the phenomena of renunciation happens. Then you are in it and not of it when you are there in the guest and still a host. You need not escape from the guest. There is no need. Then you can be in the crowd and alone. And if you cannot be alone in the crowd, you can never be alone anywhere. Because the capacity to be alone in the crowd is needed to be alone when you are really alone. Otherwise, if you cannot be alone in the crowd, the crowd will be there when you are alone. The mind will be crowded even more. Because the mind has the tendency to feel more absence than presence. If your beloved, if your lover is present, you can just forget very easily. But if he is not present, you cannot forget. The mind has the tendency to feel absence more because through absence is desiring and mind is just desiring. So mind feels absence is more Otherwise, there can be no desiring. If you can forget absences, then desire becomes impossible. So we forget presences and we go on feeling absences. So whatsoever is not is desire and whatsoever is is just forgotten. So when you are alone, the crowd will be there. It will follow you. If you escape from the crowd, the crowd will follow you. So do not escape. Do not try. That is impossible. Remain where you are, but don't be centered in the guests. Be centered in yourself. Remember the host. This host is your being in its purity. Do not fall in love with the guests. Do not fall in hate with the guests. Really, this word is very good. Falling in love. Why falling in love? Why not rising in love? No one rises in love. Everyone falls in love. Why? Why this falling? Really, the moment you are in love, are in hate, you fall from your hostness. You just fall from your hostness. You become the guest. That's the misery. That's the confusion. That's the darkness. Wherever you are, doing, not doing, lonely, in the crowd, active, inactive, wherever you are, go on remembering the host, that whatsoever is happening are just the guests, and I am the host. And don't be identified with anything. Anger comes, remember, you are the host. Anger is just a guest. It has come and it will go. I'm remembered of a Sufi story. A great emperor asked his wise men to give him a mantra. of such a type that it can be used in any dangerous fatal situation. Any advices are always particular. And he wants a mantra, a advice, the essence of all wisdom, so that it can be used in any situation whatsoever. Whenever there is danger, the wise men are very confused and very disturbed and in a deep anguish they cannot find out such an essence of all wisdom. Then they go to a Sufi mystic and he gives a piece of paper and says that this should not be opened unless really there is danger. And then there will be the advice. So the king puts the piece of paper under the diamond of his ring. There are many moments when the danger approaches, but the Sufi has emphatically said, said that unless you feel really this is the last, now nothing can be more dangerous than open it. Many dangers come and go. And the king always feels this is not the last. Something more can still happen. Even death approaches and the king is just on his deathbed but still he cannot open because he remembers still more is possible but his wise men they say, now, please open it. We want to see what is there. But the king says, the promise must be fulfilled. Really, and now it is irrelevant what is there. The mantra has worked upon me. After this mantra with me, I have not felt any danger at all. Whatsoever the danger was, I felt still more is possible, and I have remained the host. I was never identified. Because the danger can never become the ultimate unless you are identified with it. And then anything can become the ultimate, just anything. Just ordinary, anything can become the ultimate and you are disturbed. And the king said, no, I am not worried at all whatsoever in it. The man is wise. The Sufi knows. I am not concerned what he has written. Then the king died without opening. The moment he died, the wise man did, his wise man did the first thing to open the ring. There was nothing, it was just a piece of paper. Just a piece of paper, not any word, not a single word of advice. But the advice works, the mantra works. So be centered in your host and remember nothing is happening to you. All that is happening are just the guests, visitors. They will come and go. And it is good that they come and go. It enriches you you become more mature. But don't follow them. Don't be involved with them. Don't become one with them. Don't fall in love and hate. Don't fall in identifications. Remain the host. And then, then the ultimate happening happens then the ultimate explosion becomes possible. Once the witnessing soul is known, you will never be the same again. The whole world disappears and you are transmuted into a new dimension of bliss. Identification is misery non identification is bliss to fall in love and hate with the guest is misery to transcend them and to be centered in oneself is bliss अब हम ध्यान के प्रयोग में लगे ना